હેલો ફ્રેન્ડ્સ હું પલ્લવી પાટીલ ગુજરાતી ફિલ્મ એક્ટ્રેસ છું મેં ઘણી બધી ફિલ્મો કરેલી છે મારી સુપર ડુપર ફિલ્મ મનડું મળ્યું મહેસાણામાં બે હજાર સત્તરની સુપર ડુપર ફિલ્મ છે અને પ્રીતના પારખા સાજણ તારી પ્રીત તારી સાથે જોડીને મારું નામ ઘણી બધી ફિલ્મો મેં કરેલી છે તમે સાંભળી રહ્યા છો radio Madhuban ninety point four FM સાંભળતા રહો અને હસતા રહો नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में हम लोग कवियों को बुलाते हैं कवियत्रों को बुलाते हैं और उनकी खुद की रचनाओं को उन्हीं के द्वारा सुनते हैं तो आइए आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ हरियाणा की मिट्टी से हरियाणा से जुड़ी हुई है प्रतिभा माही खास कवियत्री है और हमारे बीच में वो है उनसे हम लोग बातें भी करेंगे और उनकी कुछ खास रचनाओं को आज हम लोग उन्हीं के द्वारा सुनेंगे भी तो आप सभी की तरफ से कवियत्री प्रतिभा माही का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं मधुबन एफएम रेडियो 90.4 <laughs> प्रतिभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लगता है जब भी कवियों के मंच के द्वारा कवि खुद अपनी रचनाओं को जब सुनाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे सभी श्रोता इस कार्यक्रम को बड़े प्यार से सुनते हैं और बहुत ही अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी रचनाओं के साथ हमारे सभी श्रोताओं से मुखातिब हो जाए और सबसे पहला मैं चाहूँगा एक पिता पर जो गीत आपने लिखी है अपनी रचना वो गीत मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम की शुरुआत में आप प्रस्तुत करें हाँ रमेश जी मैं सबसे पहले वही गीत समर्पित करना चाहूंगी जो एक बार मेरे पिताजी का जन्म दिवस था हम्म। और मेरे मन में उनके प्रति जो भी भाव थे वो मैंने एक गीत के माध्यम से उनको समर्पित किए हैं तो मैं वही गीत आप सभी श्रोताओं को और आपको सुनाना चाहूंगी अभी हम्म, हम्म, हम्म तो आप ध्यान दीजिए देखिए अगर आपको पसंद आए तो मेरा हौसला भी बढ़ाइएगा दीजिएगा <laughs> जी जी स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका तो गीत का शीर्षक मैंने रखा है वो है पिता तुम हमारे पिता तुम हमारे क्या बात है बहुत सुंदर लाए जमी पर दिखाए नजारे लाए जमी पर दिखाए नजारे पिता तुम हमारे जहां से हो प्यारे पिता तुम हमारे जहां से हो प्यारे वो बचपन हमारा बड़ा ही सलोना जो मांगा था हमने वो पाया खिलौना सुनाई थी लोरी और कांधे बिठाया ले बाहों के झूले में तुमने झुलाया पकड़ मेरी उंगली सिखाया था चलना पकड़ मेरी उंगली सिखाया था चलना तुम्हें याद होगा हमारा मचलना तुम्हें याद होगा हमारा मचलना फिर देखिए आगे क्या लिखा है जी करी जिद हमारी सदा तुमने पूरी करी जिद हमारी सदा तुमने पूरी यकायक बड़ी फिर हमारी वो दूरी यकायक बड़ी फिर हमारी वो दूरी कदम जब जवानी में हमने रखा था अजब ही अनोखा पिया एक चुना था बना मुझको दुल्हन बिठाया था डोली तभी बाबूजी में पिया की थी होली तभी बाबूजी में पिया की थी होली देखिए फिर क्या है जी सजा आशियाना चली मैं पिया के सजा आशियाना चली मैं पिया के रहे संग रंग भाती जो अपने दिया के रहे संग बाती जो अपने दिया के सबक तब तुम्हारा ही सब काम आया दुआओं से तुमरी घरों दा सजाया सभी गुण तुम्हारे विरासत में पाए अमल कर तभी तो जहाँ जीत पाए अमल कर तभी तो जहाँ जीत पाए न शिकवा शिकायत न कोई गिला है मिला ना किसी को वो मुझको मिला है तभी तो लड़े हम अंधेरों से जाकर सिले जख्म लाखों सदा चोट खाकर तुम्ही से हसी का गुलों को सजोना तुम्ही से हसी का गुलों को सजोना खुशी के ये मोती चुन चुन पिरोना जमी से फलक तक सभी चांद तारे जमी से फलक तक सभी चांद तारे गवाबाओ जिए हमारे तुम्हारे गवाबाओ जिए हमारे तुम्हारे है रब की ये रहमत खुदा की खुदाई बाबूजी से कह रही हूँ है रब की ये रहमत खुदा की खुदाई तभी तो मैं तेरी की बिटिया कहाई तभी तो मैं तेरी की बिटिया कहाई तभी तो मैं तेरी की बिटिया कहाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जहाँ पर एक बेटी अपने पिता को याद करते हुए उनके प्यार उनके जज्बात उनकी भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से प्रतिभा माही ने हमें सुनाया है तो आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको भी अपने पिताश्री की याद आ गई होगी तो ज़रूर उन्हें याद कीजिए और उनके गुणगान कीजिए और उनको धन्यवाद कीजिए एक बार फ़ोन करके उन्हें याद कर लीजिए तो आइए आगे बढ़ते हैं इस संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और अच्छे अच्छे गीतों को हम सुनेंगे अब एक और जो कविता है वो माँ के ऊपर उन्होंने लिखी है तो प्रतिभा माही जी मैं चाहूंगा कि माँ के ऊपर जो रचना आपने लिखा है वो आप सुनाइए रमेश जी मैं बताना चाहूंगी जी ये जो माँ मा के ऊपर जो ये रचना है एक माँ और बेटे की कहानी है अच्छा अच्छा कि माँ बचपन में कैसे उस बच्चे को पालती है और कैसे वो बड़ा होता है तो उसका उस पूरी घटना का वर्णन किया गया है तो देखिए वो आप सबको मोह लेगा वर्णन वो मैं माँ और ममता की कहानी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ जी जी जी दूध पिला कर सींचा माने दूध पिला कर सींचा माने अपने दिल के टुकड़े को अपने दिल के टुकड़े को देखो कैसे तरस रही है जो बेटा है बड़ा हो चुका है और बाहर चला गया है माँ अकेली रह रही है हम्म। उस वक्त ये मेरे मन में एक बात आई थी जो मैंने लिखी है हम्म। दूध पिलाकर सींचा माँ ने अपने दिल के टुकड़े को देखो कैसे तरस रही है एक नजर उस मुखड़े को एक नजर उस मुखड़े को कैसे बीता बचपन उसका आओ तुम्हें बताएं हम कैसे बीता बचपन उसका आओ तुम्हें बताएं हम माँ बेटे का प्यारा किस्सा आओ आज सुनाए हम कोटुन जब चलता था लालन कोटुन जब चलता था लालन माँ को खूब बगाता था ठुमक ठुमक कर थाम के उंगली अपने खेल दिखाता था अपने खेल दिखाता था माँ को खूब सताता हरदम अपनी अद्भुत बातों से सीने से माँ के लग जाता पहुँच के आंसू हाथों से पहुँच के आंसू हाथों से वो ऐसा क्यों करता था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था और उसके पिता नहीं थे तो वो माँ को जब रोते हुए देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था तो उनके सीने से लग जाता था और उनके आंसू पहुंचता था जी जी जी नन्ने नन्ने कदमों से जा दूर कहीं छिप जाता था नन्ने नन्ने कदमों से जा दूर कहीं छिप जाता था ढूंढ ढूंढ थक जाती मैया इतना नाच नचाता था इतना नाच नचाता था काना काना के के मैया फूली नहीं समाती थी हम्म। उसकी एक हंसी की खातिर गम अपना पी जाती थी माँ बेटे का प्यार निराला आंखों का वो तारा है माँ ने इस ममता की खातिर अपना सब कुछ वारा है धीरे हम्म। धीरे बढ़ता बढ़ता माँ के कद से बड़ा हुआ धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता माँ के हम्म। कद से बड़ा हुआ लिखने को इतिहास नया कुछ माँ का बेटा खड़ा हुआ उसको तालीम मिले अच्छी इस खातिर खुद से दूर किया सीने पर अपने टक पत्थर हर प्रयास उस भरपूर किया बड़ा गर्व है माँ को अपने इस प्यारे से लालन पर कभी न थकती देखो मैया बेटे की तारीफें कर आस लगाए बैठी दिल में वो आज भी उसकी आस लगाए बैठी हुई है हाथ लगाए बैठी दिल में लाल मेरा घर आएगा हर एक पहलू जीवन का वो आकर के महकाएगा आकर के महकाएगा अब तक पाला माने उसको अब तक पाला माने उसको अब वो नाज उठाएगा खूब करेगा सेवा उनकी हर दम हाथ बटाएगा दम हाथ बटाएगा हर दम हाथ बटाएगा जी जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही खूबसूरत कविता आपने सुनाई आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही भाव भरे जो शब्द थे आपने अपने गीतों में यूज़ किया आइए आगे बढ़ते हैं श्रोता मित्रों बहुत ही अच्छी बातें हो रही संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में माँ और पिता पर बहुत ही सुंदर गीत आप सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप अपने दिल पर हाथ रखे अपने माता पिता को याद कीजिए देखिए उनकी उनके साथ आप इतना प्यार से व्यवहार कीजिए कि उनका आशीष आपको हमेशा मिलता रहे उनका प्यार हमेशा आप पर बरसता रहे तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इसी कार्यक्रम में फिर से सुनेंगे प्रतिभा माही को आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी मम्मा बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी जिंदगी ताराने खुशी के गाएगी तेरे होते किसका डर तू दुआओं का है घर मेरी माँ प्यारी मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी मम्मा वो वेरी नाइस कैसा लगा मम्मा क्या मेरा गाना मेरा पहला परफॉर्मेंस अरे सुनाई कहा दिया ये नालायक विवेक अरे बैटरी लाना ही भूल गया क्या यार विवेक अरे क्या भैया मुझे क्या बोल रहा हूँ आपको लाने को बोला था ना बैटरी कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा तू लाओ तो मैं सबसे नारा हूं तेरा मां लगता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही सुंदर कविताएं हमने सुनी माँ और पिता पर अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बार प्रतिभा माही को आपसे जोड़ना चाहूँगा और एक बेटी पर उन्होंने कविता लिखी है उनका स्वागत इन दो लाइनों से कहना चाहूँगा लाख छिपाता है कोई जब परेशानियाँ जकड़ लेती है लाख छिपाता है कोई जब परेशानियां जकड़ लेती हैं माँ माँ होती है औलादों की खामोशी को पढ़ लेती है औलादों की खामोशी को पढ़ लेती है तो आइए प्रतिभा माही को फिर से मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा और बेटी पर उनकी जो रचना है वो सुनेंगे अभी जी स्वागत है नमस्कार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ क्योंकि आप संस्कार के बढ़ते कदम सुन रहे हैं और संस्कार की जब बात चल रही है तो मैं कुछ <laughs> संस्कारों को ही लेते हुए आगे बढ़ूंगी जी जी जी अभी जैसा कि रमेश जी ने बताया कि बेटिया के ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो बेटी के ऊपर चार पंक्तियां पहले बोलना चाहूंगी जी स्वागत है आजकल की बेटियां किसी से कम नहीं है हम्म। हमें बेटों से बेटियों को कम नहीं आंकना चाहिए तो हम्म। उसी को मैं बताना चाहूंगी देखो सीढ़ी चढ़ रही हैं आज की ये बेटियां देखो सीढ़ी चढ़ रही हैं आज, आज की ये, ये बेटियां क्या से क्या कुछ गढ़ रही हैं आज की ये बेटियां वाह क्या बात हौसले भी हैं बुलंद एक नई परवाज है एक नई परवाज है हौसले भी हैं बुलंद एक नई परवाज है ला सितारे जड़ रही हैं आज की ये बेटियां वाह क्या बात है क्या से क्या कुछ गढ़ रही हैं आज की ये बेटियां कुछ तो है वीरांगनाएं जी कुछ तो है वीरांगनाएं कुछ डरी सहमी हुई हम्म, हम्म। कुछ तो है वीरांगनाएं कुछ डरी सहमी हुई फिर भी आगे बढ़ रही हैं आज की ये बेटियां क्या से क्या कुछ गढ़ रही हैं आज की ये बेटियां बांध कर सिर पर कफन और ले तिरंगा हाथ में बांध कर सिर पर कफन और ले तिरंगा हाथ में सरहदों पर लड़ रही हैं आज की ये बेटियां क्या से क्या कुछ गढ़ रही है आज, आज की ये बेटियां देखो सीढ़ी चढ़ रही है आज, आज की ये बेटियां वाह बेटियों की बात चली रही है तो मैं आपको एक और सामाजिक दृश्य बताना चाहूंगी कि मैं एक बार कहीं से गुजर रही थी हाँ. तो मैंने क्या देखा कि एक माँ अपने बेटे को दूध पिला रही थी हम्म, हम्म, हम्म, और उसका आंचल खुला हुआ था बेटा दूध पी रहा था और वो बैठी बैठी पत्थर भी तोड़ रही थी साथ साथ हाँ। तो उस वक्त जो मेरे हृदय से विचार निकल के आए वो मैंने गीत के माध्यम से ए, मैं गीत में उतारे हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी जी स्वागत है और मैं दर्शकों से भी कहूंगी वो ध्यान दें कि माँ तो माँ होती है चाहे वो कोई भी हो किसी की भी माँ हो जी जी जी माँ अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचती हमेशा ये चाहती है वो कैसे उनको आगे बढ़ा सके उनके लिए क्या कुछ कर सके सब कुछ उन पर कुर्बान कर देती है तो वही मैं बताना चाहूंगी एक माँ की मजबूरी क्या होती है जी हया कपरदा रुख पर डाले हया का पर्दा रुख पर डाले अपनी किस्मत ओढ़ती अपनी किस्मत ओढ़ती एक माँ की मजबूरी देखो एक माँ की मजबूरी देखो बैठी पत्थर तोड़ती बेटी पत्थर तोड़ती बैठी पत्थर तोड़ दी आचल से हिम्मत बन लिपटा आचल से हिम्मत बन लिपटा उसके हृदय का टुकड़ा उसके हृदय का टुकड़ा बेता है सीने से अमृत जब वो उसको दूध पिलाती है तो अमृत बह रहा है देखिए बहता है सीने से अमृत खिलता है उसका मुखड़ा खिलता है उसका मुखड़ा चुन चुन कर सागर से मोती चुन चुन कर सागर से मोती नैया का रुख मोड़ती माँ की मजबूरी देखो बैठी पत्थर तोड़ती बैठी पत्थर तोड़ती हया का पर्दा रुख पर डाले हयक का पर्दा रुख पर डाले अपनी किस्मत ओढ़ती माँ की मजबूरी देखो बैठी पत्थर तोड़ती बैठी पत्थर तोड़ती जी फिर आगे क्या है देखिए वो बैठी बैठी क्या सोच रही है सोच रही थी बैठी बैठी नजर नीचे डाल कर सोच रही थी बैठी बैठी नजर नीचे डाल कर सींच रही थी नन्ना पौधा सींच रही थी नन्ना पौधा अपनी खुशियां बार कर अपनी खुशियां बार कर मन ही मन कुछ ताने बुन कर मन ही मन कुछ ताने बुन कर चुन चुन सपने जोड़ती एक माँ की मजबूरी देखो बैठी पत्थर तोड़ती बैठी पत्थर तोड़ बहुत ही सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी रचना आपने सुना है सामाजिक परिवेश के साथ एक महिला और एक बच्चे की कहानी को आपने दर्शाया रमेश जी जब संस्कारों की बात चली रही है तो मुझे एक गीत याद आ रहा है जो मैंने माता पिता के लिए लिखा था कि बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं और माता पिताओं को भूल जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए वो एक संस्कार के रूप में मैंने एक गीत में ढाला है अगर आपको इजाजत दें तो मैं वो एक मुकड़ा एक अंतरा जरूर थोड़ा सा सुनाइए क्योंकि वक्त कम है तो हाँ उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देती हूँ जरूर जरूर सुनाइए स्वागत है उसका मैं केवल एक बंद सुनाऊंगी उसी से लोगों को संस्कार पता लग जाएंगे क्या है कि वो क्या सोचते हैं जी जी जी दुनिया से कुछ समय बचाकर मात पिता से सीखो कुछ दुनिया से कुछ समय बचाकर मात पिता से सीखो कुछ पद कमलों में शीश झुकाकर मात पिता से सीखो कुछ लोगों की बातों में आकर तुम क्या कुछ कर जाते हो छोटी छोटी सीख न लेते फिर पीछे पछताते हो करते हो अपनी मन मर्जी अपना रोप चलाते हो फिर भी उनकी आंखों में तुम सदा प्यार ही पाते हो बिन मांगे हर जन्नत पालो मात पिता से सीखो कुछ सेवा कर थोड़ा बतिया लो मात पिता से सीखो कुछ सोचो समझो तनिक विचारो एक दिन वो भी आएगा जिस सीढ़ी पर है वो बैठे उस पर तू चढ़ जाएगा तेरे कर्मों की छवि को फिर वक्त यही दोहराएगा अपनी आंख के तारों से फिर तू भी वो सब पाएगा सर पर कैसे ताज सजाएं मात पिता से सीखो कुछ किस्मत कैसे खुद लिख पाए मात पिता से सीखो कुछ सहनशीलता पाठ धैर्य का वक्त से लड़ना सीखा क्या सुख दुख की राहों पर चलकर संयम पाना सीखा क्या अपनों की खातिर जीवन में फर्ज निभाना सीखा क्या जिससे है अस्तित्व तुम्हारा बलि बलि जाना सीखा क्या कैसे कश्ती पार लगाई मात पिता से सीखो तुम जो कुछ अब तक सीख न पाए मात पिता से सीखो तुम दुनिया से कुछ समय बचाकर मात पिता से सीखो तुम मात पिता से बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया प्रतिभा माही जी बहुत ही सुंदर रचनाओं को आपने हमारे बीच में रखा और संस्कार के बढ़ते चरण में आखिरी जो बंदा आपने संस्कार के बारे में सुनाया वो भी बहुत ही अच्छा रहा और शुरुआत में आपने जो पिता के ऊपर कविता सुनाई वो भी बहुत सुंदर उसके बाद माँ के ऊपर आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई और एक बेटी पर बहुत ही सुंदर जो आ, शायरी के अंदाज में आपने जो दो दो लाइन पढ़ के सुनाया बेटी अब नया जीवन गढ़ रही है वो सारी भावनाएं जो थी एक बेटी को मोटिवेट करने वाले शब्द आपने उसमें किया बिल्कुल, था बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा बेटों से कम नहीं है <laughs> जी जी जी तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और माँ के ऊपर जो आपने कविता सुनाई उसके लिए दो लाइनें आपको समर्पित करते हैं जिसने दी है जिंदगी और चलना सिखाया है जिसने दी है जिंदगी और चलना सिखाया और है चलना सिखाया है वो मेरी माँ है वो मेरी माँ है लगता है जैसे लगता है जैसे भगवान का वही साया है भगवान का वही साया है तो प्रतिभा माई जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपनी रचनाओं को सुनाने के लिए फिर से हम आपको जोड़ना चाहेंगे आप यूं ही आते रहें और इस तरह हमारे श्रोताओं से रूबरू होते रहें अपनी रचनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद धन्यवाद जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो यूं तो मैं सबसे ना goodbye, Miami.